परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि प्रेमी सज्जनों आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का बारहवा मंत्र आज हमारे सामने है इस मंत्र में परमात्मा का वर्णन किया गया है परमात्मा कैसा है इसलिए ये मंत्र परमात्मा का स्तुति परक है मंत्र में कहा तत् एजति वह गति करवाता है चलाता है एजति अर्थात ए जयति चलाता है तत् यानी वह परमात्मा जो सर्वव्यापक है पहले से जिसका वर्णन किया जा रहा है महर्षि लिखते हैं वह परमात्मा सब जगत को यथा योग्य अपनी अपनी चाल पर चला रहा है भिन्न भिन्न द्रव्यों की अपनी अपनी गतियां हैं जड़ वस्तुओं की कार्य जगत की उनकी कुछ निश्चित गतियां इस संसार के चलने के लिए आवश्यक है वो उस गति से चले तभी इस संसार में संतुलन रह पाता है चाहे पृथ्वी आदि का घूमना हो चाहे परमाणुओं का घूमना हो चाहे जल में गति हो समुद्र तक पहुंचना समुद्र से फिर वृष्टि के रूप में आना वायु का चलना इत्यादि सब जो गतियां हैं ये अलग अलग मात्रा में अलग अलग स्थितियों में चलती हैं तो परमात्मा इन सबको यथा योग्य चलाता है जो जैसी आवश्यक है जैसी होनी चाहिए उस तरह से वो इनको चला रहा है लेकिन महर्षि लिखते हैं कि जो अविद्वान लोग सो विद्वान लोग ईश्वर में भी आरोप करते हैं कि वह भी चलता होगा जिन्हें परमात्मा का ठीक ज्ञान नहीं है वो परमात्मा को अपने आसपास की वस्तुओं की तरह समझने का प्रयास करते हैं जैसे संसार में कोई वस्तु व्यक्ति किसी दूसरे को चलाता है तो वो भी चलता है कुछ उसमें भी गति होती है यदि घोड़ा तांगे को खींच रहा है गति दे रहा है तो घोड़े में भी गति है कोई मजदूर किसी ठेले को धक्का दे रहा है आगे बढ़ा रहा है तो उसमें भी गति है इंजन यदि रेल को डब्बों को खींच रहा है तो उसमें भी गति है उस इंजन को कोई चालक चला रहा है तो उसमें भी गति है वायु पत्तों को चला रही है पेड़ पौधे हिल रहे हैं तो वायु में भी गति है भाप यदि इंजन को चला रही है पेट्रोल यदि इंजन को चला रहा है तो उसमें भी गति है जहां भी कोई गति दूसरे के द्वारा होती दिखती है तो दूसरा वो चलाने वाला भी गति करता हुआ हमें दिखाई देता है संसार में ऐसा ही दिख रहा है तो जो केवल लोक के आधार पर विचार करते हैं वो परमात्मा में भी ऐसा ही घटाने लगते हैं और वो सोचते हैं कि परमात्मा भी गति करता है जब परमात्मा इस संसार को चला रहा है तो वो भी तो चल रहा होगा उसमें भी तो कुछ गति होगी ये एक विचार मन में बैठा रहता है लेकिन ये ईश्वर को न समझने के कारण से है ईश्वर को समझ लिया तो जैसा वेद कहता है कि वो परमात्मा तत् ए जयति सबको चलाता है लेकिन तत् न ए जती वो स्वयं नहीं चलता है यूं ये दोनों वाक्य विरुद्ध प्रतीत होंगे एक तरफ कहा तत् ए जति कंपन करता है गति करता है फिर कहा तत्ना ए जति वो गति नहीं करता है ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत होंगे इसलिए तत् ए जति का ठीक अर्थ महर्षि ने किया यह ए जति अर्थात ए जयति वो चलाता है और यदि इस रूप में भी देखें इस अंश को तत् जति तत् न जति तो महर्षि ने एक दूसरी बात लिखी कि जो अविद्वान है जो ईश्वर को ठीक नहीं समझते वो ये कहते हैं कि तत् एजति वो चलता है लेकिन वास्तव में तत न एजति वो चलता नहीं है विद्वानों की दृष्टि में वो चलता नहीं है वो स्थिर रहता है उसका कारण महर्षि ने लिखा क्योंकि परमात्मा सब में पूर्ण है वह सब में पूर्ण है कभी चलायमान नहीं होता पूर्ण का मतलब है वो सब जगह भरा हुआ है यहां भी है वहां भी है वहां भी है सब जगह पे है कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो इस तरह से वो सब जगह पूर्ण है भरा है परिपूर्ण है तो इससे उसकी गति का कैसे निषेध हो गया तो जैसे संसार में हम जिन भी वस्तुओं में गति करते हुए देखते हैं वो सर्वव्यापक नहीं होती है वो एक देशी वस्तुएं होती हैं कोई भी गति करता हो प्राणी है वस्तु है इतनी बड़ी पृथ्वी भी गति कर रही है तो ये भी एक देशी है ये सर्वव्यापक नहीं है सूर्य इससे भी बहुत बड़ा है लेकिन वो भी गति कर रहा है तो वो भी सर्वव्यापक नहीं हो सकता क्योंकि गति में एक वस्तु एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर जाती है इसे हम गति कहते हैं पहले स्थान से वो हट जाती है पूर्व देश को छोड़ती है और उत्तर देश को दूसरे देश को प्राप्त होती है ये सब जगह जहां जहां भी गति होती है वहां ये नियम काम करता है तो पूर्व देश को पूर्व स्थान को छोड़ना और उत्तर देश को दूसरे स्थान को प्राप्त होना ये तब संभव है जब वो दूसरे स्थान पर पहले से ना हो किसी वस्तु के लिए हम कहें ये यहां से चल के वहां गई इसका मतलब है वहां पहले नहीं थी अर्थात सर्वव्यापक नहीं थी जो वहां पहले से ही विद्यमान है वो दूसरी जगह भी पहले से विद्यमान है ऊपर नीचे सब जगह पहले से विद्यमान है उसकी गति कैसे होगी वो तो सब जगह भरा हुआ है जैसे किसी कमरे के अंदर रुई भरी हो अनाज भरा हो बोरियां भरी हुई हो वो सब भरे हुए हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात नहीं होती है तो सब ठस भर गए भरे हुए हैं स्थान होगा एक देशी होगा तो ही गति होगी इस नियम के आधार पर महर्षि कह रहे हैं कि वो परमात्मा सब जगह पूर्ण है भरा हुआ है तो उसमें गति हो ही नहीं सकती वो चलायमान हो ही नहीं सकता तो इतना मानने पर भी मन में ये एक विचार फिर उठता है कि जब परमात्मा सर्वव्यापक है खुद चल नहीं सकता तो दूसरों को चला कैसे देता है दूसरों में गति कैसे कर देता है ये सारा संसार वो कैसे चला रहा है प्रकृति की अपनी गति भी है रजोगुण में अपनी गति है किंतु वो उस तरह से व्यवस्थित नहीं है जैसी व्यवस्थित अभी परमात्मा ने की है ये जो प्रकृति में गति हो रही है ये गति किसकी है जब हम ये व्यवहार करते हैं एक व्यक्ति दूसरे को चला रहा है हमने किसी गेंद को फेंका तो हमने उसमें गति दी है वो जो गेंद में गति है वो किसकी है वो शक्ति कहां से आई तो शक्ति हमारे से आई हमारे हाथ से आई हमने कोई शक्ति का प्रयोग किया ऊर्जा का व्यय हुआ और उससे वो गति बनी वो गति उस वस्तु में गई गेंद में गई और वो भी चलती चली जा रही है वो गेंद चलती चली जा रही है तो रास्ते में आने वाली हवा को वस्तु को भी वो इधर उधर करती जा रही है उसके सामने यदि कोई छोटा कंकर आए तिनका आए तो उसको हटाती भी जाएगी यदि कोई शीशा है उस पर सीधी कठोर बॉल मारी जाए गेंद मारी जाए तो उसको तोड़ते हुए जाएगी उस उसके कांच में भी गति पैदा कर देगी ये जो हम लोक में व्यवहार देखते हैं उसमें एक गति देता है दूसरे को तो दूसरे में जो गति पहुंची है वेग हो आया है वो कहां से आया है पहले से आया है कहीं से वो वेग उत्पन्न हुआ है गति शक्ति उत्पन्न हुई है इससे अन्य चीजें गति करती हुई जाती इससे उसमें उससे इसमें बहुत सारे डब्बे रखे हों रेल के बहुत सारे ट्रेन के डब्बे हों गाड़ी के और इधर से एक इंजन आकर के उसके लगता है जिस समय तो एक डब्बे को धक्का देता है लेकिन आगे तक के डब्बे खिसकते चले जाते हैं दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने चौथे को वेग में न्यूनता हो सकती है यह एक अलग बात है उसकी एक सीमा है कहां तक वो गति करेगा लेकिन एक से दूसरे में दूसरे से तीसरे में वो चलता चला जाता है तो जब एक वस्तु दूसरे को गति देती है तो हमारे मन में क्या बात आती है कि उस पहले वाले में शक्ति गति ऊर्जा वेग था जो दूसरे में स्थानांतरित हुआ है तो जो वस्तु बाद में गति करती है उनमें वो गति कहां से आई वो कहां से आई तो हम कहेंगे उस पहले वाले से आई रेल के इंजन से वो गति आई जो डब्बों में गई इंजन में कहां से आई इंजन को तो और किसी ने नहीं दी हाँ इंजन के अंदर ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि डीजल जलता है या तो कोयले जलते हैं उससे वो एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है एक शक्ति उत्पन्न होती है जिससे उसके पहिए चलते हैं और पहिए चलते हैं तो वो डब्बा आगे खिसकता है लेकिन बाहर से कहीं से नहीं आई तो जब ये व्यवहार हम करते हैं कि इसने उसको गति दी इसने उसको चलाया तो वो जो दूसरी चीज चल रही होती है जड़ वस्तु उसमें गति कहां से मानी जाती है पहले से जहां से प्रारंभ हुई तो जब ये वचन आता है कि परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड को इस सारे जगत को चला रहा है यथा योग्य चला रहा है चेतन वस्तुओं को छोड़ करके चेतन वस्तु अपनी स्वतंत्रता से गति करते हैं जड़ वस्तुएं ईश्वरीय व्यवस्था से गति करती हैं नियमों के अनुसार चलती हैं परमात्मा इन सबको चला रहा है तो इनमें जो गति है वो परमात्मा की मानी जाए या इनकी अपनी गति मानी जाए एक प्रश्न खड़ा होता है जो पहले हम संसार में देखते हैं उसके अनुसार ये विचार बनता है कि सारी गति परमात्मा की है क्योंकि परमात्मा चला रहा है इसलिए ये सारी की सारी गति किसकी है परमात्मा की है ये किसकी शक्ति से चल रहे हैं ये सब किसकी शक्ति से चल रहे हैं ये परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं परमात्मा की शक्ति इनको चला रही है यदि परमात्मा की वो शक्ति रुक जाए परमात्मा इनको वेग ना दे तो चलना बंद कर देंगे ये एक विचार मन में आता है तो ये जो जितनी भी क्रिया हो रही है ये परमात्मा चला रहा है परमात्मा की शक्ति से चल रही है इनकी अपनी शक्ति कुछ नहीं है इनमें कोई अपनी गति नहीं है दूसरी दृष्टि परमात्मा इनको व्यवस्थित करता है यथा योग्य चलाता है इनको अपनी अपनी चाल पर चला रहा है इनकी अपनी जो चाल है इनकी अपनी जो गति है उसके अनुरूप इनको चला रहे हैं जो चीज जैसी चल सकती है जैसी चलनी चाहिए दोनों बातें जैसी चल सकती है उसकी अपनी जैसी गति है उसको और उसको फिर जैसी वो चल सकती है जैसी वो चलनी चाहिए तो दूसरी दृष्टि ये बनती है कि गति क्रिया ये जड़ वस्तुओं में भी अपनी है प्रकृति के तीन कण सत्व रजस तमस इनमें रजस क्रियाशील माना गया है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम योग दर्शन का सूत्र ये क्रियाशील है ये क्रियाशीलता प्रकृति का रजस गुण का अपना धर्म है स्वाभाविक धर्म है यदि हम पहला सिद्धांत मानते हैं कि परमात्मा ही इन्हें चला रहा है परमात्मा की शक्ति से ये चल रहे हैं इनमें अपनी कोई गति नहीं है जड़ वस्तुओं की अपनी कोई गति नहीं है क्रिया नहीं है तो ये बात नहीं जमेगी कि ये रजस जो है वो क्रियाशील है रजोगुण के कारण से क्रियाएं होती हैं ये वचन नहीं बन सकता फिर तो सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है परमात्मा की ही गति है लेकिन रजस को भी क्रियाशील शास्त्र में कहा गया है यदि हम ये माने कि सारी की सारी गति परमात्मा की ही है तो जैसे हमारे शरीर में गतियां होती हैं हम बोलते हैं चलते हैं फिरते हैं खाते हैं पीते हैं ये गति कहां से आ रही है ये गति कहां से आ रही है हम कहेंगे कि भई ये आत्मा की आ रही है आत्मा अपने आप में तो अत्यल्प शक्ति वाला है बहुत कम शक्ति है उसकी और वो इनको सीधे सीधे चला भी नहीं सकता इतनी उसकी शक्ति है लेकिन उसके यहां रहने से ये चलती है तो ये एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न है और ईश्वर को समझने के लिए भी आवश्यक है कि ईश्वर इस सबको चला रहा है ये ठीक है वचन भी है लेकिन इस चलाने में ये गतियां परमात्मा की हैं ये परमात्मा की शक्ति से ही चल रहे हैं या इनमें अपनी भी क्रियाएं हैं परमात्मा ही इनको चला रहा है इस पक्ष में एक और युक्ति दी जाती है कि ये तो जड़ वस्तुएं हैं ये तो चल ही नहीं सकती जड़ में तो क्रियाएं नहीं होती हैं परमात्मा चलाएगा चेतन चलाएगा तभी तो ये चलेंगी नहीं तो ये चल नहीं सकते ये उचित दिशा में नहीं चल सकते इसलिए परमात्मा ही इनको सतत चला रहा है ईश्वर के मानने वाले ईश्वर भक्तों का एक मत ये बनता है अब हम अगर देखें दूसरी दृष्टि से कि जो चलाने वाले होते हैं क्या उन्हीं की अपनी सारी शक्ति आगे बढ़ती है अब इंजन या गाड़ी चल रही है उसको कौन चला रहा है कौन चला रहा है मनुष्य चला है तो क्या मनुष्य में इतनी शक्ति है जितना वो गाड़ी कर में शक्ति हमें दिखाई दे रही है जितनी गति से वो गाड़ी चलती है जितने भार को वो ढो लेती है क्या उतनी शक्ति मनुष्य में होती है मनुष्य चलाने वाला है उसको क्या मनुष्य की ही शक्ति से चल रही है मनुष्य की शक्ति से चल रही है तो उस ढंग से हम देखें कि मनुष्य जैसे धक्का लगाए उस गाड़ी को तो तो रेल के इंजन को खिसका भी नहीं सकता टस्से मस भी नहीं कर सकता इतने डब्बे लंबे इतने सैकड़ों लोगों हजारों लोगों को ले जाने की तो क्षमता ही नहीं कल्पना भी नहीं कर सकते यदि कोई गेंद उधर से आ रही हो हमारी तरफ जैसे खिलाड़ी करते हैं और उससे अपनी डंडा अड़ा दिया अपना पैर लगा दिया तो वो किधर से किधर जा सकती है इधर से उधर अब वो जो उधर जा रही है वो किसकी शक्ति से जा रही है घोड़े को बैल को मनुष्य चलाता है मनुष्य चलाता है कैसे चलाता है वो अपनी शक्ति से तो बैल को नहीं खींचता वो बैल को केवल निर्देशित करता है उसको संयोजित करता है घोड़े को केवल नियोजित करता है एक जगह ठीक जगह लगाएगा ठीक प्रेरणा देगा और वो चलेगा और वो रथ भी चलने लग जाएगा और वो खुद उसके ऊपर बैठा हुआ है तो गति करने कराने में सदा ये नहीं देख होता कि जो कराने वाला है वो उसी की शक्ति लगेगी और तो ही वस्तु आगे चलेगी आगे चलने वाली वस्तु उसी की शक्ति से चल रही है चलाने वाले की शक्ति से ऐसा सब जगह नहीं होता ये बहुत सारे उदाहरण हैं जहां चलाने वाले की शक्ति तो बहुत थोड़ी होती है यानी उसकी शक्ति उस वस्तु में नहीं जा रही होती है गाड़ी को चलाने वाला केवल दबाता ही तो है कुछ जिससे डीजल पेट्रोल अधिक निकलता है वो जलता है वहां प्रक्रिया बनी हुई है व्यवस्था बनी है उससे शक्ति पैदा होती है उससे गाड़ी के पहिए घूमते हैं और वो चल पड़ती है अर्थात इससे पता लगता है कि जड़ वस्तुओं में भी गति है जड़ वस्तुओं में भी शक्ति है और चलाने वाला यदि उसको व्यवस्थित कर दे तो उसका उपयोग ले सकता है उसको बहुत कम उससे चला सकता है दूसरा चलाने वाला जब तक चलाता है तब तक वस्तु चलेगी हम लोग में देखते हैं जब तक ठेले को धकेलते हैं तब तक वो दिखता है उसने छोड़ दिया तो रुक जाता है घोड़ा रुक गया तो तांगा भी रुक गया तो उस दृष्टि से हमारे मन में ये बात बैठती है कि परमात्मा हर क्षण इनको चला रहा है यदि वो ना चलाए तो ये रुक जाएंगी तो इसके लिए भी दूसरे उदाहरण हमें लोक में देखने को मिलते हैं छोटे बच्चे को देख लीजिए खिलौना है उसने चाबी भर देता है घड़ी है चाबी भर के छोड़ दी घड़ियां भी पहले आती थी चाबी वाली चलो वो हमने ताकत से भर दी हमने अपनी सामर्थ्य से उसमें चाबी भर दी और छोड़ दी और वो चल रही है घंटों चल रही है वो डब खिलौना चल रहा है जब तक उसमें चाबी है अर्थात चलाने वाले के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो सतत उसको चलाता रहे प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है ऐसी शक्ति है कि उसको यदि नियोजित कर दिया जाए तो वो फिर उसी तरह चलती रह सकती है तो परमात्मा इन सबको चला रहा है लेकिन उसका ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि परमात्मा हर क्षण हर चीज को बिल्कुल वैसे ही चला रहा है और ये सारी की सारी परमात्मा की ही शक्ति है जो ये इतनी बड़ी पृथ्वी और सूर्य घूम रहे हैं परमात्मा की इतनी शक्ति है कि वो इनको व्यवस्थित चला रहा है बिल्कुल उसने इनमें व्यवस्था दी है उससे वो चल रहे हैं लेकिन इन जड़ प्रकृति की भी अपनी शक्ति सामर्थ्य है क्रिया है उससे ये चलती है अब एक प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा आखिर करता क्या है कि इससे ये चलती है ये परमात्मा में ऐसा क्या है कैसी क्या शक्ति है तो वो ही बड़ी विचित्र शक्ति है उसमें परमात्मा की इच्छा मात्र से ईक्षण मात्र से ये चीजें होती है ऐसी उसकी शक्ति है किसी चीज को चलाने के लिए जैसे हमें कुछ हिलना डुलना पड़ता है गति देनी पड़ती है ऐसे परमात्मा को हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है और ना वो हिल डुल सकता है क्योंकि वो परिपूर्ण है लेकिन परमात्मा की इच्छा मात्र से ईक्षण मात्र से वो चीजें होती ऐसी उसकी शक्ति है इसलिए उसको गति करने की आवश्यकता नहीं है इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है तो तत् एजति वो परमात्मा इस सब को चला रहा है लेकिन तत् न एजति स्वयं नहीं चल रहा है परमात्मा में उस तरह की क्रिया ही नहीं है वो दूसरों में ये क्रिया दे सके जैसी हम एक से दूसरी वस्तु में क्रिया होते हुए देखते हैं तो पहली वस्तु स्वयं क्रियाशील होती है फिर दूसरे में क्रिया आती है लेकिन परमात्मा तो उस तरह का क्रियाशील है ही नहीं तत्ना एजति वो तो सर्वव्यापक है तो इस ढंग से तो वो इनको नहीं चला रहा है ये हमें निश्चित हो जाता है शब्द प्रमाण से लेकिन चला भी रहा है वो तो उस चलाने का दूसरा कोई उपाय है दूसरा कोई तरीका है उस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए हम यही ना सोचते रहे कि नहीं परमात्मा चला रहा है तो वो भी चल ही रहा होगा बिना चले कैसे चला सकता है तो यहां शब्द प्रमाण विद्वानों ऋषियों के मंतव्य को हमें स्वीकार करते हुए कि परमात्मा तो चलता ही नहीं है न एजती अब कैसे चला रहा है तो बिना चले चला रहा है वो बिना स्वयं चले बिना स्वयं चले बिना दूसरों को चला रहा है ऐसी उसकी सामर्थ्य फिर आगे कहा तद दूरे वो दूर भी है तदुअंतिके वो अंदर भी है निकट भी है और इसको महर्षि ने एक और अर्थ में भी खोला कि दूर कैसे परमात्मा जब वो सर्वव्यापक है तो दूर कैसे हो सकता है तो निकट ही होना चाहिए तो कहा कि प्राप्ति की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति की दृष्टि से वो बहुत अनेकों के बहुत दूर है बहुत दूर है बोले तो कोटि कोटि जन्म तक भी वो मनुष्य परमात्मा को नहीं पा सकते कौन मनुष्य जिसके लिए कहा कि जो अधर्मात्मा है कोटि कोटि कह के भी आगे कहा कि वो कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते उनको उनके लिए परमात्मा दूर है बहुत दूर है जो अधर्मात्मा है जो अविद्वान है जो विचार शून्य है जो अजितेंद्रिय है और जो ईश्वर भक्ति रहित है इत्यादि दोषों से जो युक्त हैं वो परमात्मा को कभी पा नहीं सकते इनमें से एक भी चीज यदि किसी में नहीं है तो परमात्मा उससे दूर ही रहेगा ये आर्य के लिए आवश्यक चीजें हैं इसके विपरीत परमात्मा के लिए लिखा महर्षि ने कि वो किनके निकट है तो यही शब्द जु के तो लिखे उसी तरह की बातें लिखी कि जो सत्यवादी सत्यकारी और सत्यमानी है सत्य बोलता है सत्य का आचरण करता है और सत्य मानता भी है जो जितेंद्रिय है जो सर्वजनोपकारक है विद्वान है और विचारशील है कोई अधर्मात्मा अधर्मात्मा है लेकिन विद्वान है वो ईश्वर को नहीं पा सकता कोई धर्मात्मा है लेकिन विद्वान नहीं है वो भी ईश्वर को नहीं पा सकता ज्ञान चाहिए और धर्मात्मा भी है विद्वान भी है लेकिन विचार शून्य है चिंतन नहीं कर रहा है तो उसको वो विवेक पैदा नहीं होगा जान तो लिया है सामान्य पढ़ लिया सुन लिया लेकिन उसको विचार नहीं किया विचार करके अपना नहीं बनाया उसको स्वीकार्य नहीं हो सकता वो पढ़ी पढ़ाई बातें होंगी बस उसके मन में बोलेगा पढ़ाएगा लेकिन अंतर नहीं आएंगी जब उन बातों को देखता है समझता है अपने में दूसरे में विचार करता है विचार करना भी ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक है विचार शून्य व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता पढ़ लिया पढ़ा लिया लिख दिया यहां तक रहे लेकिन विचार नहीं चल रहा है उसके कि हां ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है मेरे साथ घट रहा है दूसरों के साथ घट रहा है उचित अनुचित ये सब नहीं कर रहा है बस श्रद्धा से मान लिया कि भाई हाँ ये ठीक है और चल रहा है बस ऐसे ही बोल रहा है कर रहा है वो ज्ञान उसको मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकता विचार करना पड़ेगा मनन करना पड़ेगा और इतना करने पर भी यदि जितेंद्रिय नहीं है संयम ही नहीं है तो वो भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता और जितेंद्रिय भी है यदि है लेकिन ईश्वर भक्त नहीं है तो वो भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता तो ये आर्य के लिए अनिवार्यताएं लिखी है किनके परमात्मा निकट है और किनके दूर है तो तत् दूरे तदु अंतिके विपरीत बातें लगती हैं परमात्मा दूर भी है और निकट भी है इस सापेक्ष कथन है किनके दूर है और किनके निकट है <clears throat> आगे कहा तदंतरस्य सर्वस्य यही सारे के जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा है उस सबके वो अंदर भी है तदु सर्वस्य सर्वस्य अस्य बाह्यत है वो बाहर से भी है उसके उसको घेरे हुए भी है अंदर भी विद्यमान है वो ऐसा सूक्ष्म है वो सर्वव्यापक भी है और साथ में सूक्ष्म भी है वो सब जगह विद्यमान है ये भाव जब आर्य के मन में रहेगा आर्य परमात्मा को जब इस रूप में देखेगा कि परमात्मा अंदर भी है मेरे मन में भी है मेरे मन के प्रत्येक विचार को वो जान रहा है मेरी आत्मा में भी है मेरी आत्मा के प्रत्येक संकल्प को प्रत्येक इच्छा को प्रत्येक अनिच्छा को वो यथावत जान रहा है और मेरा अंदर से कितना प्रयत्न है इसको भी वो पूरा जान रहा है सब कुछ पता है उसे अंदर से सब कुछ पता है और दूर दूर की चीजें भी उसको पता है मेरा ही नहीं पता है सबका पता है उसको कोई दूर बैठा व्यक्ति कुछ भी करे उल्टा सीधा वो भी नहीं बच सकता कहीं भी हो बाहर से अंदर से सब तरह पूरी तरह वो हमें जानता है ये भाव आर्य के मन में रहे तो उसकी ईश्वर प्राप्ति की ओर गति बढ़ेगी तेजी से होगी जिस लक्ष्य के लिए वो आया है जिसके लिए वो आर्य बना है उसको प्राप्त हो सकेगा इसके लिए महर्षि ने अंत में लिखा वह अखंड एक रस सब में व्यापक हो रहा है उसी को जानने से सुख और मुक्ति होती है अन्यथा नहीं परमात्मा को जानना और उसको ठीक ठीक जानना जैसा है वैसा जानना तब ही मुक्ति हो सकती है सुख की प्राप्ति हो सकती है ये आर्यों के लिए वेद का संदेश है परमात्मा की स्तुति हमें कैसी करनी चाहिए परमात्मा को हमें कैसा स्वीकार करना चाहिए परमात्मा के प्रति हमारा कैसा भाव रहना चाहिए वो उसका कुछ भाग इस मंत्र में भी हमारे लिए प्रस्तुत किया गया किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए रामत्यालू जी ज्ञान परमात्मा में कोई क्रिया नहीं है और दूसरी तरफ परमात्मा असंख्य क्रिया वाला है उसके हजारों हाथ हैं हजारों पैर हैं वो गतिविधियां हैं दोनों तरह के वचन हमें मिलते हैं यहां हमें क्या संगति लगानी चाहिए परमात्मा में स्वयं में कोई गति ना होते हुए क्योंकि वो परिपूर्ण है सब जगह भरा हुआ है इसलिए उसमें स्वयं में कोई गति न होते हुए वो दूसरों में जो गति देता है इसलिए वो क्रिया वाला है परमात्मा को क्रिया वाला किस दृष्टि से कहा, कहा जाएगा स्वयं निष्क्रिय होते हुए भी दूसरों में वो क्रिया दे सकता है तो जहां शास्त्रों में परमात्मा की विभिन्न क्रियाएं कही गई उसकी स्वाभाविक क्रियाएं स्वाभाविक कर्म है इसका मतलब है अन्यों में कर्म कराने की उसकी क्षमता है और जहां परमात्मा को निष्क्रिय कहा गया कि वो गतिशील नहीं है वो इस रूप में है कि वो स्वरूपतः स्वयं इधर उधर नहीं जाता इसके लिए देखे तन्न एजती स्वतः वह परमात्मा कभी नहीं चलता एक रस निश्चल होके भरा है स्वतः वो स्वयं नहीं चलता है हाँ दूसरों को चलाता है तो जहां जहां क्रिया का कथन आएगा वो दूसरों को चलाने के संदर्भ में देखना चाहिए और जहां जहां निष्क्रिय कहा गया वो स्वतः गति नहीं करता इस अर्थ में लेना चाहिए नहीं तो विरोध ही दिखता रहेगा उससे पहले ज्ञान पढ़ा है ज्ञान बल और क्रिया तीनों को ये स्वाभाविक है तो ज्ञान भी क्या दूसरों को कराएंगे या खुद में है स्वयं परमात्मा में जो ज्ञान है वो है और दूसरों को भी कराता है वो स्वयं में उसका बल है वो दूसरों को भी देता है यहां ये चीजें घट जाएंगी परमात्मा का अपना बल है और वो दूसरों को बल देता है ठीक है उतना उसका बल है कि वो इन सबको चला सकता है इस रूप में बल है उनको प्रेरित कर सकता है उनको नियंत्रित कर सकता है ये उसका बल है सत्यव्रत जी अच्छा आपने ऐसा कहा कि परमात्मा ने जड़ प्रकृति में चलाने चलने की व्यवस्था दी है व्यवस्था की है यथायुग व्यवस्था की है और क्योंकि प्रकृति के भी जो रजोगुण है उसमें भी गति है तो उसकी व्यवस्था परमात्मा ने की है कि स्पष्ट दिशा में चले जैसा उसे चलना चाहिए वैसा चले तो इसमें अधिकांश बातें तो ठीक है इसका अनुकूल लगते हैं पर कुछ बातें ऐसी हैं जैसे सुनामी वगैरह आया तो उसमें आपने भी बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है जो प्लेटों के पृथ्वी के अंदर जो प्लेट तो एक प्लेट दूसरी प्लेट पे चढ़ गई जिससे चल के लहरें ऊंची उठी और लगभग बीस लाख लोग मतलब काल की विराश में तो क्या ये व्यवस्था परमात्मा की ही मानी जाएगी या कोई अर्थपेक होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट से भी अर्थपेक होता है आजकल वही उसी की मान्यता है तो वो जो आंतरिक व्यवस्था जो गति है पृथ्वी के प्लेटों में तो उसको भी परमात्मा को ही माना जाएगा तो इसमें थोड़ा सा ऐसा असंगति सी लगती है कि ये फिर इतने लोगों की अकाल मृत्यु का वो दोष ईश्वर के ऊपर आएगा ऐसा मतलब इसको कैसे समझ लेना जी इनका प्रश्न इस रूप में है कि कुछ जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं जैसे कि सुनामी आ गई थी तो क्या ये भी परमात्मा ही करवा रहा है परमात्मा की व्यवस्था से ही हो रहा है ये काफी परोक्ष विषय है हम सीधे सीधे इसका प्रमाण नहीं कह सकते कि ये परमात्मा ही करवा रहा है ये परमात्मा की व्यवस्था से ही है अथवा अन्य भी कुछ कारण है जिससे कि ये अव्यवस्थाएं हो रही हैं मान करके चलना पड़ेगा कि यदि ऐसा है तो मान लिया कि परमात्मा की व्यवस्था से ऐसा हो रहा है ठीक है प्रकृति के चलने के लिए भूमि के चलने के लिए ये उथल पुथल भी आवश्यक होती है उस उथल पुथल से बहुत सारे लाभ होते हैं इस प्रकृति में भूमिगत जो चीजें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं वो हमें लाभ मिलता है वो बहुत सारे कारण हैं लेकिन उसके कारण से जिन मनुष्यों की मृत्यु हुई उसको भी हम ये कहें कि परमात्मा ने इन सबको मार दिया हजारों मनुष्यों को लाखों मनुष्यों को इस रूप में ये कोई क्रूर कर्म हो गया ऐसा ना सोचा जाए प्रकृतिक व्यवस्था में कुछ बाधाएं होंगी जैसे हम खेती करते हैं तो कुछ जीव जंतु मरते हैं उससे सीधे सीधे ईश्वर की व्यवस्था उस तरह से नहीं है कि वो मारना चाहता है उनको लेकिन ऐसी स्थिति है कि वो मरेंगे और उनके कर्म फल की व्यवस्था परमात्मा करता है उनको जो जितना कष्ट हो गया दुख हो गया उतना उनका कर्माशय पाप कर्माशय भोग लिया गया उतना वो कम हो जाता है न्याय उनका भी होता है इसी तरह संसार में जो भी कुछ होता रहता है चाहे तो मनुष्यों के द्वारा या अन्यायपूर्वक और अथवा प्रकृति में भी उन चीजों में जो बाधित होते हैं जिनको पीड़ाएं हो जाती हैं जिनका शरीर चला जाता है इत्यादि उनकी पूर्ति परमात्मा के द्वारा माननी चाहिए व्यवस्था न्याय व्यवस्था माननी चाहिए तो ऐसी स्थितियों में भी परमात्मा ने किसी को मार दिया या दुख दे दिया अन्याय कर दिया ये तो बात हमें नहीं लानी है अब ये प्रकृति जिस तरह की बनी है परमात्मा ने अपने ढंग से अच्छी से अच्छी बनाई है लेकिन प्रकृति का भी अपना कुछ स्वभाव स्वरूप होता है परमात्मा उससे परे जाकर के कुछ बदलाव नहीं कर सकता परमात्मा अग्नि को शीतल नहीं कर सकता ये परमात्मा की असमर्थता नहीं ये वो चीज ही ऐसी होती है तो कुछ प्रक्रियाएं जड़ प्रकृति की कार्य जगत की जैसी है वैसी ही चलेंगी उसको ईश्वर भी नहीं रोक सकता उस रूप में परमात्मा ने इसको अच्छे से अच्छा बनाया लेकिन फिर भी कुछ हो जाता है तो होता है किसी ने झोपड़ी को अच्छा सा बनाया लेकिन बारिश हुई तूफान आया और कोई बल्ली गिर गई नीचे और किसी को चोट लग गई तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि वो बल्ली गिर जाए और उसको चोट लग जाए नहीं बनाने वाले ने अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा बनाया लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जड़ वस्तुओं में उसके तहत कुछ अगर हो जाता है तो उसमें बनाने वाले पे दोष नहीं जाता है इसीलिए जो ये पक्ष मानते हैं कि हर चीज परमात्मा ही चला रहा है सब कुछ उस तब वो दोष आएगा कि ये सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है प्लेटें भी जो भिड़ी पानी भी जो उछला लहरें आई वो हर लहर को परमात्मा ही जैसे खिसका रहा है हर चीज को वो उस वो पहला वाला पक्ष है जो मानते हैं उसमें तो ईश्वर पे ही आएगा कि वो ही सब कुछ जो का तू करा रहा है और जो दूसरा पक्ष मैंने आपके सामने रखा परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है व्यवस्था दे के वो छोड़ सकता है जब मनुष्य भी व्यवस्था दे करके चला के इंजन को यंत्रों को छोड़ सकता है और वो चलते रहते हैं परमात्मा क्यों नहीं कर सकता इसको चला करके छोड़ा हुआ है व्यवस्था दी हुई है जब नियंत्रण करना है तब नियंत्रण भी करेगा लेकिन चलते चलते अगर कहीं कुछ टूट फूट होती है गाड़ी को चलाने वाला चला रहा है लेकिन कहीं कुछ टूट गया उसकी कमानी टूट गई स्प्रिंग टूट गई तो गाड़ी तिरछी होगी ही ना चलते चलते कुछ चीज घुस गई और कुछ हो गया और टायर फट गया हवा निकल गई तो वो तिरछी होगी ना पलट भी सकती है ये जो चीजें हैं ये परिस्थिति जन्य जो हो सकती है वो होंगी उसको रोक नहीं सकते जो घिसावट होगी वो होगी जो न्यूनता आएगी वो आएगी उसको कितना भी कुशल परमात्मा हो इन चीजों को नहीं रोक सकता तो जो प्रकृतितः ऐसा होता है वो होगा दूसरा मानव जन्य भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसका हमें पता भी नहीं लगता है आज भूमि से इतना डीजल पेट्रोल निकाला जा रहा है जगह खाली हो रही है उसमें कुछ अगर धस जाता है कुछ इधर उधर होता है हो सकता है अगर ऐसा है तो जो होना है वो होगा ही उसको कौन रोक सकता है तो इन चीजों को पूरी तरह ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा ही करवा रहा है हाँ न्याय परमात्मा का अवश्य है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा व्यवस्था हो जाएगी तो परमात्मा इन सबको चला रहा है व्यवस्थित कर रहा है लेकिन हर चीज परमात्मा नहीं करवा रहा है कुछ चीजें प्रकृतिता होती हैं कुछ मनुष्य जीवों के द्वारा भी होती हैं होती हैं स्वामी जी दोनों ही पक्षों में है इस विषय में हमारे को कोई सीधे सीधे शब्द प्रमाण नहीं मिलता कि परमात्मा साक्षात चला रहा है या तो चला के उसने छोड़ रखा है चलाता है इतना तो ठीक है ये तो आ गया वाक्य ये दोनों तरफ जा रहा है अब हम वहां कुछ युक्ति उहा करते हैं जो कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी भी हैं कि जब एक मनुष्य भी एक युक्ति दोबारा बोल रहा हूं जब मनुष्य भी इस प्रकृति का उपयोग लेकर के चला सकता है उसको और वो फिर चलती रहती है वैसे तो उसका उपयोग एक बुद्धिमान व्यक्ति करता है ऐसे तो परमात्मा क्यों नहीं कर लेगा परमात्मा अत्यंत बुद्धिमान है उसको जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस कार्य को वो नहीं करेगा यदि आवश्यकता है परमात्मा में शक्ति है वो कर सकता है इस पर प्रश्न उठाते हैं कई जने कि मनुष्य तो कर नहीं सकता सामर्थ्य नहीं है इसलिए वो करता नहीं है वो चला के छोड़ देता है और वो चलती रहती है लेकिन परमात्मा में तो उस शक्ति की कोई कमी नहीं है हम तो अनंत शक्ति वाला मानते हैं अनंत बल है और वो चला रहा है तो चला भी सकता है सब जगह विद्यमान भी है और चला भी सकता है शक्ति भी है तो क्या आपत्ति है उसको मानने में न मानने में क्यों ना मान ले हम कि परमात्मा ही चला रहा है एक आता है तर्क युक्ति बनती है तो परमात्मा बलवान है सर्वत्र व्यापक है लेकिन वो ज्ञानवान भी है एक बुद्धिमान व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता जिसको करने की आवश्यकता ही ना हो उसी कार्य को करता है जिसकी आवश्यकता है जो बिना उसके किए हो सकता है उसमें वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगता है आवश्यक ही नहीं है वहां पर इसी तरह परमात्मा तो अनंत ज्ञान वाला है जहां जितनी उसकी आवश्यकता है उतना वो करता है जहां आवश्यकता नहीं है उसको भी वो करे ऐसा हमारा आग्रह परमात्मा के प्रति नहीं होना चाहिए वो बुद्धिमान है जो चीज हो सकती है तो हो रही है ये अपत्री हाँ।, हाँ जो मेंटेनेंस की आप बात कह रहे हो पालन की उसका निषेध मैंने एक भी वचन में एक भी बार नहीं बोला है चलाने की बात है गति की बात है केवल वो इनकी व्यवस्था तो कर ही रहा है वो जो रचयिता है तो पालक भी है इस सृष्टि का पालन भी कर रहा है वो पालन करना मतलब वो मेंटेनेंस में आ रहा है वो तो वो करता है जहां आवश्यक जितना होता है वो करता ही रहता है उसका निषेध नहीं है और जहां अपने आप व्यवस्थाएं हो रही हैं वहां हो रही हैं अब पानी ऊपर से गिर रहा है तो परमात्मा ही बूंद को नीचे लेकर के आ रहा है ऐसा नहीं कह सकते हम उसने व्यवस्था दे रखी है या प्रकृति की व्यवस्था है कि गुरुत्वाकर्षण होता है वो नीचे आएगी नीचे आकर के अब वो जो बह रही है नदी में गई और नदी से समुद्र में जा रही है वो सब परमात्मा ही खिसका रहा है मान सकते हैं आप परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हुए लेकिन आवश्यक नहीं है वो प्रकृति की है वो द्रव है वो तो बहेगा ही नीचे की तरफ वो जाएगा उसको परमात्मा को वहां करने की आवश्यकता नहीं है जहां व्यवस्था मेंटेनेंस की आवश्यकता है वो करता है वो पालन करता है और जब ये प्रलय होती है ये भी उस तरह उसका मेंटेनेंस ही है प्रलय जब वो करता है उसको फिर से बना देता है जो यंत्र चलना काम नहीं कर रहा है उसको फिर से करके फिर से बना करके कर देता है ये सब पालन करना उसको ठीक ढंग से चलाना वो तो वो कर ही रहा है उसका निषेध यहां पर बिल्कुल नहीं है समझे जी वो अपना जीता है जीवात्मा आत्मा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो आत्मा का बल बढ़ता है उसके साधनों से एक बात शरीर बुद्धि इंद्रियां उनको अच्छा करके वो बढ़ाएगा आत्मा का जो अपना स्वाभाविक बल है जितना बल है बहुत कम वो तो जैसा है वैसा है लेकिन ज्ञान के होने से जो विश्वास आ जाता है निर्भयता आ जाती है पराक्रम आ जाता है ये जो चीजें हैं ये साधनों ज्ञान आदि के माध्यम से होता है परमात्मा की प्रेरणा से होता है उतने तक है परमात्मा का सीधा सीधा बल यूं आ जाता हो ऐसा नहीं वो तो दो ही चीजें समझ में आती हैं एक तो ज्ञान और एक आनंद बाकी चीजें जो अब क्रिया है परमात्मा प्रेरणा देगा आत्मा उसके अनुसार फिर इच्छा द्वेश जो भी उसे करना है प्रयत्न करना है फिर इंद्रियों आदि में गति होकर के वो क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं वो सबका सब होगा लेकिन परमात्मा अपनी क्रिया आत्मा में डाल दे ऐसा तो नहीं है परमात्मा अपना कोई बल वहां से यहां दे दे ऐसा नहीं है हाँ ज्ञान अवश्य है ज्ञान परमात्मा का हमें मिल जाता है हमें अनुभूति होती है आनंद की अनुभूति होती है ये दो बातें तो समझ में आती हैं बाकी कोई और गुण सीधे सीधे कि परमात्मा की दयालुता है वो हमारे अंदर दयालुता आ जाए परमात्मा की निष्कामता है वो वहां से चल के हमारे में आ जाए ये नहीं ये तो आत्मा स्वयं कर सकता है जैसा उसको ज्ञान प्राप्त होगा उसके अनुरूप वो निष्काम बन सकता है प्रीति अप्रीति उसमें है प्रयत्न उसमें है ज्ञान और साधन मिलेंगे तो वो उतना प्रयत्न कर सकता है तो इसलिए क्रिया का तो और बल का उस तरह से समझ में नहीं आता अनंत ही आएगा नहीं ऐसा तो नहीं है आप गणित का तो नाम मत लो वैसे वैसे आप कह सकते हो कि भाई जो अनंत है तो अनंत से जो आया है वो भी अनंत होगा उसके लिए आपको कुछ आधार बताना होगा ऐसा कैसे अनंत है उससे जो चीज आई है वो उस जैसी होगी आप स्तर तो कह सकते हैं आनंद आया है तो वो आनंद वैसा ही होगा लेकिन अनंत हो ऐसा नहीं कह सकते हैं। आया भी क्या है वो तो विद्यमान है सब जगह ज्ञान और आनंद सब जगह विद्यमान है आत्मा केवल जब उसको जानने लगता है अनुभव करने लगता है इतना ही तो है और तो कुछ नहीं है ये अलग बात है वो जो आप कह रहे हो संभवतः दूसरी बात को इधर लाए हो कि अनंत में से कितना भी निकाल लो अनंत ही रहता है वो वो ही नहीं वो ये एक अलग बात है <laughs> लेकिन उससे आप क्या क्या कहना चाहते हो भाई परमात्मा से कितना भी ले लिया आनंद हमने भोग लिया तो वहां कम नहीं होता है ठीक बात है कम नहीं होता लेकिन उससे इस प्रसंग में आप क्या कहना चाहते हैं ये फिर वही बात आ गई आपकी <laughs> जो आप पहला वाला वाक्य बोल रहे हैं <laughs> वो क्या वो बोल रहे हो आप उसको समझो दोनों में भिन्नता इसको आप आपकी बात को मैं दूसरे ढंग से बोलता हूं शायद आपका वो अभिप्राय हो कि परमात्मा का ज्ञान शुद्ध है उससे जो ज्ञान हमारे पास आएगा वो शुद्ध आएगा ये कह सकते हैं बिल्कुल ठीक बात है परमात्मा का आनंद दुख से रहित है वो जो आनंद हमारे पास आया है वो हमें जो अनुभव होगा वो भी दुख से रहित होगा ठीक है वो शुद्ध होगा निर्विकार होगा ये बात आप अवश्य कह सकते हैं और ऐसा ही है लेकिन अनंतता नहीं कह सकते क्योंकि आत्मा बहुत अल्प शक्ति वाला है उसके पास जो ज्ञान आया कितना भी ज्ञान आ जाए परमात्मा का चारों वेदों का या और जो भी कुछ है मुक्त आत्मा का भी लेकिन परमात्मा जैसी अनंतता तो आत्मा में नहीं हो सकती इसलिए वो सिद्धांत नहीं घटेगा नहीं लागू होगा कि अनंत से आया है तो हमारे पास भी अनंत आएगा अनंत आनंद है तो हमारे पास भी अनंत आनंद आ जाएगा ये ठीक है हमारी दृष्टि से आनंद कह सकते हैं हम कि हमारे को ऐसा आनंद मिलेगा जो कि समाप्त न होगा मुक्ति के काल में परिपूर्ण आनंद होगा हमें उसका कोई और छोर पता नहीं लगेगा इस रूप में कह सकते हैं लेकिन हम जितना है हमारी तो सामर्थ्य थोड़ी सी है ऐसा जी जैसा आपने बताया कि ये जो उन्होंने से पूर्ण निकाली है गणित के हिसाब से समुद्र है इसने एक बूंद निकाली तो कम तो होगा ही नहीं कि उनपे नहीं के बात है गणित का ही नियम भी ये केवल लेकिन ज्ञान के ऊपर तो घटेगा एक गुरु ने अपना पूरा ज्ञान दे दिया उसके गुरु का ज्ञान घटेगा कि बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा उतना ही रह गया तो इसलिए आनंद में कोई कमी नहीं आएगी ज्ञान में कोई कमी नहीं आएगी यही जीवात्मा उससे प्राप्त करता है इसलिए गणित का ये नियम पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो ये यहाँ पर भी घटे ज्ञान पर भी घट जाएगा पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो दादा के जिससे कौन सी ज्ञान में कमी आएगी ये यहाँ घटेगा गणित में भी घटेगा ठीक है गणित में भी यही घटेगा गणित बात नहीं करता है हाँ ठीक है साधक जी पॉजिटिव साइंस है तो गणित बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही होता है उसमें कोई कमी नहीं है हाँ व्रतमणि जी हाँ देखिये गणित की दृष्टि से अगर इनका जो होता है कि समुद्र में ऐसे कोई एक बूंद भी निकालेंगे तो वो उतना तो कम होगा यानी जितना है उसमें से हम एक भी निकालेंगे तो जितना निकालेंगे उतना तो कम होगा ये तो एक व्यवहार द्रव्य की दृष्टि से सब जगह लागू होगा लेकिन यदि कोई संख्या हो अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है कोई सीमा ही नहीं है समुद्र तो एक सीमित चीज हो गई बूंद भी एक सीमित चीज हो गई गणित में भी जो अनंत है इन्फेनाइट है उसमें से कुछ भी निकाल लो तो क्या कितना बचेगा अनंत ही बचेगा अनंत मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है कि कितना था उसमें से निकाल लिया तो अब कितना बचा है उसको हम कुछ कह नहीं सकते इसलिए वहां अनंत शब्द कहा जाएगा यूं विज्ञान की दृष्टि से कहीं से कोई चीज ली है तो वो कम हो जाती है वस्तु द्रव्यों के लिए है ऐसा कुछ गुणों के लिए भी है ऐसा सब जगह नहीं लगता है लेकिन अगर अनंत है अज्ञात है हमें उसको ही अनंत कह रहा है विज्ञान गणित अनंत है यानी हमें कुछ ज्ञात नहीं है अब उसमें से हमने निकाल लिया कुछ तो जो बचा है वो कितना बचेगा ज्ञात है या अज्ञात है वो भी अज्ञात ही है हमें कितना बचा हुआ है हमें पता नहीं है वो अनंत ही है उनकी दृष्टि से इसलिए अनंत में से अनंत निकाल के अनंत बचता है ये गणित की दृष्टि से भी होता है लेकिन यूं अगर निश्चित संख्या है हमारी और उस संख्या में से कुछ कुछ भी हम निकालेंगे तो उतना तो कम होगा वहां पर वहां अनंतमय से अनंतता का तात्पर्य अलग ढंग से है कि हमें ज्ञाति नहीं है कि वहां कितना है और निकालने के बाद भी पता नहीं है कि वहां कितना बचा है इस दृष्टि से वो कहा जाता है अनंतमय से अनंत निकाल लो तो भी अनंत बचेगा लेकिन जहां ईश्वर के ज्ञान आनंद आदि की बात है उसमें वहां कोई कमी नहीं आती हम केवल उसको अनुभव करते हैं वो क्षय नहीं होता है तो इस विषय को अभी इतना ही रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण परमात्मा के मंत्रोक्त स्वरूप को मन में रखते हुए ओ निरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सर्वेभ्यो नमः